विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् करके अ बोलो अ ई उन नहीं ट नहीं हुआ ह रुको ह य रट हाँ या हैं हाँ बोलो लण हाँ इन सूत्रों का नाम है माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं माहेश्वर सूत्र है महेश्वर तो शिव जी है भगवान महेश्वर से आया महेश्वरात आगतानी माहेश्वरानी सूत्र शब्द अकारांत है जैसे राम शब्द अकारांत है सूत्र शब्द राम शब्द एक प्रकार ही है प्रथमा विहति द्वितीया विहति में थोड़ा भेद है ज्ञान शब्द अदंत है अकारांत नपुंसक है इसी का रूप में राम शब्द जिसको आ गया ज्ञान शब्द आने में और समय नहीं लगता है शीघ्र हो जाता है राम शब्द सबको आ गया है ना ये क्रम से कितने लाइन पाँच होते हैं एक दो तीन चार पाँच एक एक लाइन को जो पूछेंगे एक लाइन वाले बताएंगे राम शब्द का प्रथम हेतु बोलो एक लाइन प्रथम लाइन वाले पूरा जोर से बोलो राम रामो राम ऐसे बोलना बोलो एक रामा हाँ हाँ सब नहीं बोलते बोलो सब प्रथम लाइन वाले राम दूसरा द्वितीय व्यक्ति बोलो मिलकर सब रामम रामान कौन बोलता है गलत बोला फिर बोलो रामम तृतीय मिलकर जल्दी नहीं रामाय रामात नहीं आता है बोलो रामात राम जोर से बोलो रा नहीं रामात बोलो रामात ये खाली ओठो हिलाने से होगा जोर से बोलो राम बोलो रामात हाँ दो दो लाइन बोलो राम से तीन लाइन बोलो राम से देखो कैसे बोलते ये लाइन आलसी है बोलो पंचमी बोलो रामात हाँ सप्तमी हाँ अभी संबोधन बोलो हे हरी शब्द बोलो प्रथम होती दो लाइन हरि ही द्वितीय हरि ना कौन बोलता है बोलो फिर बोलो हरिम हरिम नहीं हरिम हरि तृतीय हरिना बोलो हरिना फिर बोलो जोर से बोलो ये धीरे धीरे बोलते बोलो जोर हरिना चतुर्थी देखो ये कैसे बोलते ये लाइन में सब आलोच बैठे बोलो फिर तृतिया बोलो हरिना हाँ बोलो चतुर्थी शाबाश इतने हाँ आगे नहीं पीछे नहीं बोलते बोलो हरे हे इति इति बोलो इति ष्ठी नहीं हरौ संबोधन में हे हरि हो गया हे हरे हे हरी हाँ मरुत शब्द बोलना एक प्रथम मरुत मरुत मरुत मैं बोलो द्वितीय तो बोलो मरुतम नहीं मरुतम बोलो मैं मरुतम नहीं मरुतम बोलो मरुतम अरे मरुतम पहले बोलो मैं एक बोलूँगा था तो तीनों बोलना चाहिए ना मैं बोलने के बाद फिर बोलो मरुतम फिर बोलो सब बोलो ना द्वितीय द्वितीयापति बोलो नहीं द्वितीय द्वितीय द्वितीय द्वितीय बोलो फिर हाँ ये लोग नहीं बोलते तृतीय बोलो इति तृतीया चतुर्थी चतुर्थी ठीक बोलते बोलो मरुत इति पंचमी बोलो फिर हाँ तीन लाइन बोलो इति ष्ठी मरुति बोलो मरुति इति संबोधन हाँ। मरुत शब्द का बहुवचन दो लाइन वाले बोलो दो लाइन एक दो केवल मरुत शब्द का केवल बहुवचन मरुत सु एक वचन बोलो दो लाइन मरुतों के बोले गलत बोला मरुत मरुत मरुत मरुत बोला द्विवचन पूछा अच्छा एक वचन एक वचन ठीक ठीक हाँ द्विवचन बोलो मरुत भ्याम तीन बार नहीं बोलते <laughs> मरुत दो बार बोलो मरुतौ मरुतौ बोलो हाँ ये सब याद रख करके तैयार करना ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इसे बोलने के लिए ठीक होना चाहिए एक मरुत शब्द आ जाएगा तो ये व्याकरण में सब जितने प्रत्याहार बनते सब हलंत है इसी प्रकार से बनेगा जैसे मरुत शब्द जिसको आ गया एक शब्द इच अच्छ शब्द हल शब्द ये भी बोल देगा एक शब्द इक सबको मालूम होगा इक वणची अभी इक शब्द का रूप बोलना होगा जैसे मरुत ऐसे इक बोलना पड़ेगा प्रथम व्यक्ति कैसे बोलेंगे एक एक एक द्वितीय तृतीय भ्याम होने पर ग हो जाएगा ये भ्याम बोलो इका चतुर्थी एक लोग बोलो एक है बोलते नहीं लोग बोला एक है एक बोलो एक एक भ्याम आगे सच बोलो एक ष्टी में व्याम आता है है पीछे क्या देखो तो गलत बोल करके बोला फिर एक एको हो ष्टी एक फिर बोलो ये सप्तमी विभूति बोलो संबोधन तृतीया बोलो हल शब्द बोलना होगा एक वचन बोलो एक प्रथम व्यक्त बोलो हल हाँ तृतीया हलम नहीं भ्याम हला भ्याम हल भी बोलो हम्म। हाँ, हल हलह सप्तमी सप्तमी हली हलिशु हलसु ये सूत्र ऐसे याद करना फिर ठीक ठीक आगे विभक्ति के साथ सत्य अर्थ सूत्र समझना है प्रथम विभक्ति का अर्थ क्या होता है ने रामो गच्छति क्या कहेंगे राम नहीं जाता है <laughs> राम जाता है कहीं ने कहेंगे कहीं नहीं होता है ऐसे ही होता है रामो गच्छति का राम जाता है राम पठती क्या कहेंगे राम पढ़ता है प्रथम में तो कहीं नहीं होता कहीं नहीं होता है द्वितीय में तो होता है को रामम पश्य क्या अर्थ होगा राम को देखो घटम आनय क्या कहेंगे घट को लाओ द्वितीयाभूति का क्या अर्थ हुआ को द्वितीयाभूति का अर्थ को तृतीयाभूति का क्या अर्थ होता है हैं नहीं से द्वारा हाँ सबको जिनको मालूम नहीं नोट करना याद करना तृतीयाभूति का अर्थ से द्वारा से द्वारा रामेण कृतम राम से राम ने किया ने भी होता है एतत् कार्यम रामेण कृतम के न दृष्टम किसने देखा है क्या कहेंगे के न दृष्टम तृतीय भी होती न रामेण सह गच्छ क्या इसका क्या राम के साथ जाओ के साथ होता है हस्तेन बाणे न का क्या अर्थ बाण के द्वारा हाथ के द्वारा ऐसे प्रकार तृतीया भी होती चतुर्थी होता है के लिए रामाय ब्राह्म नम ब्राह्मणाय तस्मय ये सब के लिए होता है पंचमी का अर्थ होता है से वृक्षात पतति पेड़ से गिरता है वृक्षात तृतीया में भी से पंचमी में भी से है किंतु दोनों में भेद है तृतीया तो से का अर्थ द्वारा पंचमी का अर्थ अपादान ग्रामात आगत कुत आगत ग्रामात नगरात अरण्यात ये पंचमी है पतति कुतः वृक्षात पंचमी ये अपादान में पंचमी और षष्ठी क्या होता है का के की अचाम का क्या अर्थ होगा अचाम का अर्थ क्या होगा अच अचों का होगा षष्ठी का है ना अचों का बालका नाम का क्या अर्थ होगा बालकों का हो जाएगा सप्तमी में में पर रामे भक्तिरस्तु रामे राम में में होता है पर होता है मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्ष में इच्छा है मोक्ष की इच्छा को कहेंगे मोक्ष इच्छा अस्ति सप्तमी इसको याद करना सब जिनको याद है तो अच्छा है जिनको याद नहीं तैयार कर लेना विभक्ति का अर्थ मालूम होना चाहिए विभक्ति शब्द जानते ही उसका अर्थ आ जाना चाहिए तभी सूत्र अर्थ का सूत्र वृत्ति का अर्थ ज्ञान होगा समझ करके पढ़ना ये सूत्रों का नाम क्या हो गया माहेश्वर माहेश्वर नाम पड़ गया इसलिए क्योंकि महेश्वर से ये सूत्र आए आगा महेश्वराद आगतानी आगे बनेगा महेश्वर से आने से माहेश्वर हो गया ये नपुंसक हो गया क्योंकि सूत्र नपुंसक महेश्वर शब्द पुलिंग है राम जैसे बनेगा तृतीय व्यक्ति क्या बनेगा बोलो महेश्वरेण चतुर्थी महेश्वराय हाँ ये लाइन के साथ और एक लाइन बोलो ये ले कालसी चतुर्थी बोलो महेश्वराय महेश्वराभ्य किसने बोला महेश्वरेभ्य फिर बोलो महेश्वराय पंचमी हाँ इसमें भी कम थी महेश्वर से बोलो महेश्वर से सप्तमी देखो ये महेश्वर हो गया पुलिंग राम जैसे और सूत्र में होगा माहेश्वरम ज्ञान शब्द का जैसे रूप बनता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि बोलो पुनस्तवत शेषम रामवत ज्ञान ज्ञान बोलो आगे इसमें बोलते समय ज्ञान यो हो बोलते ज्ञान यो नहीं ज्ञान यो न में अय ज्ञान यो हो ज्ञान भ्याम ज्ञानाभ्याम ज्ञान यो नहीं क्या बोलेंगे ज्ञान यो हो ज्ञाने ज्ञानात आगे ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य आगे आगे

सूत्र भी किसने बोल दिया तृतीया बोलो तृतीया भय कौन बोलता है <clears throat> हा ऐसे माहेश्वरम जैसे सूत्र ऐसे माहेश्वरम बोलो माहेश्वरम माहेश्वरे तृतीया पंचमी सप्तमी चतुर्थी द्वितीय ष्ठी देखो राम हरि मरु तीन के बाद ज्ञान शब्द भी हो गया याद हो गया ना कैसे बोले प्रथम में राम ज्ञान शब्द ज्ञान हम्म, इसी प्रकार सूत्र का बनेगा माहेश्वराणी सूत्राणी प्रथम बहुवचन है इति जो दिया है अव्यय है इति क्या है सब को लेने के लिए इति इति कह दिया तो पूरा कितने चौदह एक नहीं इति के पहले तो हल आया था इति शब्द से पूरा चौदह के लेना कोई एक बोलता है गौ हो गौ हो गौ किम बदती क्या गौ रीति अयम बदती क्या कहेंगे संस्कृत में किम बदती गौरीति गौरीति अयम बदती गौरीति गौ ऐसा ऐसे राम रामो रामा इति प्रथमा इति कौन से कितने लेना तीन इसी प्रकार इति माहेश्वराणी सूत्राणी इति कौन से कितने लेना चौदह ये चौदह है माहेश्वर सूत्र कितने माहेश्वर सूत्र है चौदह है प्रथम क्या है हैं प्रथम तृतीय क्या है ए ओंग हाँ पंचम क्या है ये सूत्र में जो एक एक अंत में है ना आगे तो आएगा उसकी इत संज्ञा होती लोप होता है ये भी अभ्यास करना उसको छोड़ कर भी बोल सके कैसे अभी आगे आए बताएंगे अभ्यास कर लेना ऐसे मैं बोलता हूँ अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य ब र ल या म ग न न ज ब ग ऐसा बोलना पड़ेगा उसको छोड़ करके बीच में नहीं आना चाहिए बोल सकते ना हैं क्या <laughs> नहीं कहते बोलो आ ऐसा बोलना पड़ेगा बीच में नहीं रुकना कि ये एक सूत्र पूरा होने पर जब गड़ द ऐसा नहीं <laughs> मिला करके ऐसा होने से किस प्रत्याहार में क्या कितने वर्ण है तुरंत आ जाएगा <clears throat> ये चौदह हो गए थे माहेश्वरानी सूत्राणी ये माहेश्वर सूत्र हो गया तपस्या कौन कर रहे थे पाणिनि महर्षि केवल पाणिनि आदि भी तपस्या कर रहे थे तो उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव जी ने प्रकट होकर के डम्बरू बजाया ऐसे कर दिया रिले ए ओम हई रट ऐसे डम्बरू बजाया ऐसे डम्बरू से शब्द निकला अभी बजाने वाले इसे बजाते सुंदर बजाते वाद्य बजाने वाले जो तावल तावल और मृदंगा जी बजाते हैं और शब्द निकालते हैं श्लोकों को बोलते हैं तो उसे कला है और शिव जी बजाएंगे तो ऐसे तो जो तपस्या कर रहे थे ज्ञान को उनको तो ज्ञान प्राप्त हो गया और माहेश्वर के सूत्र मिल गया इसी के द्वारा वो संपूर्ण व्याकरण की रचना की ये ये मूल सूत्र है इसी सूत्रों को ये कहते हैं अक्षर समामनाय वेद है वेद मंत्र इसी मंत्र इसको बोल करके भगवान को अभिषेक करते शिव जी को काशी विश्वनाथ बड़े बड़े पंडित लोग ऐसे करते हैं सिद्धि प्राप्त करते हैं एक नंदी केसर काशी का नाम का छोटी पुस्तक है ग्रंथ ये जो उपदेश करने के बाद शिवजी ने डमरू बजाया सबको मालूम हो गया ये सूत्र का ज्ञान हो गया सनकादि ने पूछा उनको ये क्या क्या शिव जी ने बोला इसके क्या अर्थ है आप शिवजी के पास रहते हो आप जानते हो तो आप इसको अर्थ बताओ तो नंदी के सर काशी का नाम ग्रंथ पुस्तकालय में है पच्चीस छब्बीस श्लोक उसमें है उसमें से एक ही नृतावसान है नटराज राज है ना उसका एक श्लोक है नंदी के स्वर ने उपदेश किया इसमें पूरा वेदांत का उपदेश है अ ई उ कह करके उसमें पूरा वेदांत उपदेश हुआ जिसके कारण सनक आदि को ज्ञान हो गया और पाणी महर्षि को ज्ञान तो प्राप्त होता है हुआ और ये व्याकरण रचना भी हुई इसलिए इसका नाम अक्षर समामनाय अक्षर का वेद है ये मंत्र जैसे है इस मंत्र इसको उच्चारण करके शिव जी की अभिषेक पूजा होती है ये सामान्य नहीं है शुद्ध उच्चारण भक्ति के साथ करके शिव जी की पूजा उपासना भी होती है इससे बड़े बड़े विद्वान लोग काशी में इसकी उपासना करते शिव जी के अभिषेक इसी मंत्र जैसे वेद मंत्र बोलते इसे इसको भी बोलकर करते हैं माहेश्वराणी सूत्राणी किमर्थानी किस लिए बनाए अणादि संज्ञार्थानी इति माहेश्वराणी सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानी अनादि संज्ञा के लिए अण आदि संज्ञा संज्ञा है नाम इसमें नाम बनाएंगे अलग अलग नाम ले करके शब्द प्रयोग किया जाएगा कितने संज्ञा बनती है सी या सी हम्म, अण आदि अण अच अट अक हल ये सब नाम बनेगा इसको बनाने के लिए ये सूत्र बनाए माहेश्वराणी सूत्राणी किमर्थानी इमानी अनादि संज्ञार्थन ये सूत्र किसके लिए अनादि कोई कहे किमर्थम रजसी क्यों जाते हो क्या कहते पठनार्थम क्या कहते पढ़ने के लिए भोजनार्थम कहते ना भोजन के लिए संज्ञार्थम ये सूत्राणी किमर्थानी संज्ञार्थानी संज्ञा के लिए संज्ञा अर्थो ये शाम जिनका अर्थ का अर्थ प्रयोजन ऐसा नहीं बैठना सीधा ऐसा नहीं कोई करना है ये क्या संज्ञा अर्थो ये शाम अर्थ का तो प्रयोजन संज्ञा है जिनका प्रयोजन उसको कहेंगे संज्ञार्थम संज्ञार्थानी सूत्राणी बहुवचन हो गया संज्ञार्थम संज्ञार्थे संज्ञार्थानी संज्ञा के लिए क्या संज्ञा है अण आदि अण इत्यादि अण एक है आदि कहेंगे तो और कितने आएंगे एक चला गया एक जाने का तो फिर बयालीस ही ऐसे अनादि संज्ञा के लिए ये संज्ञा नाम बनाने के लिए सूत्र है क्या बोलेंगे इति बोलो इति इति माहेश्वराणी सूत्राणी आगे अनादि है उसमें इन्हीं में ई है आगे अ दोनों मिलकर यह हो गया इक्विवेलेंट सूत्र लग जाएगा आगे सूत्रा न्यूणादि संज्ञार्थानी मिलाकर बोलो इति सूत्राणी क्या विभूति है विभूति पूछें तो बहुवचन ये तो हैं प्रथमा बहुवचन बोलना सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी ये भी प्रथमा बहुवचन है ये सूत्र अणादि संज्ञा के लिए आगे हकारादि स्वकार हकारादिशु क्या विभूति है सप्तमी हकारादिशु ये कैसे रूप बनेगा किस शब्द के जैसे राम के जैसे राम के जैसे नहीं रामेश्वर नहीं हरि जैसे हकार आदि में ई अंत में ई है हरि में ई है हरि का जैसे हकार आदि कैसे बनेगा हकार आदि रूप बनना पड़े हकार आदि सु सप्तमी बहुचन है क्या रूप है हकार आदि सु क्या रूप है जोर से बोलो एक वचन क्या बनेगा हैं हाँ हकार आदो बहुवचन यदि हकार आदि सुए एक वचन क्या बनेगा हकारादो द्विवचन हकाराद्यो प्रथम हेतु बोलो हकारादि दि हकारादय बोलो सब हकारा है नहीं आता है द्वितिया बोलो हकारादिम नहीं होता है द्वितीयाभ्यति बोलो अरे बोलो हकार आदिम द्वितीय दो लाइन बोलो हकार आदिम तृतीय हाँ नहीं आता है हकारादिना आगे भी चतुर्थी बोलो चतुर्थ एक वचन क्या बोला हकारादे हाँ ये नहीं बोलते ठीक से हरि का क्या बोलते हो हर ए हकारादि का क्या बोलेंगे हकारादये अभी ठीक से नहीं हुआ सब हरि शब्द चतुर्थी बोलो हरि का चतुर्थी बोलो हर ए हर ए पहले बोलो हर ए हकारादि क्या बोलो हाँ पंचमी बोलो पंचमी बोलो धुलाई हकारादिभ्य पंचमी हो गया सत्य बोलो फिर बोलो हक सप्तमी हाँ सप्तमी का क्या अर्थ होता है मे पर हकार आदिशु का क्या अर्थ होगा हकार आदिओ में क्या कहेंगे हाँ हकार आदियों में हकार आदि कितने बताओ हाँ गिनती करना ह य व र ल य म गिनती कर लेना कितने हकार आदि समय तो हकार आदियों में आगे क्या है अकार हकार आदि में अकार है है या नहीं बोलो हया बरट बोलो हट हमें ह अ है नहीं य में अ है वह में अ को छोड़कर बोलो नहीं होगा अ उच्चारने के लिए ह य व तीन अक्षर बोलो अ को छोड़कर कोई बोलो अ नहीं बोलना ह य व तीन बोलो कोई बोल सकता है दो बोल सकते हो एक बोलो अगु छोड़ करके नहीं होगा मिलाकर उच्चारण होगा इसलिए उच्चारण के लिए कहा हकारादि में अकार किस लिए उच्चारणार्थ उच्चारणार्थ का क्या अर्थ होगा उच्चारण के लिए उच्चारण के लिए यदि अकार नहीं रहेगा तो उच्चारण नहीं होगा कोई ह य व र में कितने वर्ण है कितने चार है आगे ट है चार में से अ को छोड़ करके ह य व रट बोलो अ को छोड़कर बोलो नहीं बोल सकते हैं अ के बिना उच्चारण नहीं होगा इसलिए उच्चारण के लिए रख करके कहा गया वर्ण तो है हकार अ नहीं है हकार यकार वकार इ अ के बिना है किंतु उच्चारण करने के लिए रखा है जब कुछ कहेंगे आगे प्रत्याहार बनाते समय हकार केवल ह नहीं है अ तो अ में आ गया अ चबा गया हकार आदि में अकार किस लिए उच्चारण के लिए हकार आदि सु हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिए लण मध्य त्वित संज्ञा कर दिया लण मध्य तु लण मध्य ये क्या भी होती है सप्तमी एक वचन लण मध्य द्विवचन क्या बनेगा नहीं हाँ मध्य यो मध्यो बोलते मध्यो नहीं लण मध्य यो हो क्या बनेंगे बहुचन हाँ चतुर्थी क्या बनेगा हैं लण मध्याय मध्य का चतुर्थ रामाय जैसे कैसे बने बोलो लण मध्याय तृतीया लण मध्य ही सप्तमी क्या बनेगा हाँ लण मध्य सप्तमी लण मध्य में मैं जोड़ देना लण मध्य में लण के सूत्र है लण सूत्र है लण के सूत्र में एक अकार है ल के बीच में है वो अकार केवल उच्चारण के लिए नहीं है उच्चारण तो है लण मध्य तू तू का अर्थ किंतु परंतु लेकिन कहते ना तू तू का क्या अर्थ है किंतु किंतु हकार आदि में अकार तो उच्चारण के लिए किंतु लहण के मध्य में जो अकार है वो किसी लिए लहण मध्य तो इत संज्ञक इत संज्ञक है ये इत संज्ञा वाला है इत संज्ञा यस्य स इत संज्ञक इत संज्ञा वाला है इतने कितने लोग समाज से पढ़े हाथ उठाओ तो समाज तो गए कितने लोग से किसने लघु हमने पढ़ा है हाथ उठाओ और नहीं बुठा सं, संकोच नहीं समाज जिसने थोड़ा सुना है इतने तो अच्छा ठीक है लण मध्य ये पहला इत संज्ञा का हमें बहुबरी समास याद रखना इत संज्ञा यस्य स इत संज्ञा कह इत संज्ञा वाला कौन इत संज्ञा वाला है अकार कौन सा अकार लण मध्य लण मध्य में जो अकार है वह इत संज्ञक उसकी संज्ञा है इत इत संज्ञा यश जिसकी संज्ञा इत वो हो गया इत संज्ञा का इत संज्ञा वाला कौन इत संज्ञा वाला हुआ लन मध्य में अकार ह में अकार हाँ उच्चारण हाँ लण में अकार लण मध्य तू इत संज्ञा कह तू इत में क्या सूत्र लग गया जो पढ़े कौन से पढ़े मालूम है तू के आगे ऊ आगे इत में ई है ये कौन से लगेगा क्या सूत्र गया क्या गया हाँ इको यण अची में इको आगे क्या है यण आगे अची कितने पद है तीन पद है इको ईक शब्द का ष्टी इको यण प्रथमांत है अची हाँ जैसे मरुत का मरुति बनता है है ना हाँ ये लण मध्य त्वित संज्ञक त्वित संज्ञक तु इत संज्ञक इस वाक्य में कितने पद है लन मध्य तित संज्ञक कितने प्रदेश में तीन है लण मध्य एक तू एक है और इत संज्ञक के एक है से पदच्छेद ना पद से विभक्ति समझना लण मध्य में किंतु इत संज्ञक के है कौन आकार हाँ शीघ्र उत्तर देना लण मध्य तो इत संज्ञ का आगे हलंत हैं हाँ आगे आएगा हलंत सूत्र आएगा ना हलंत्यम उपदेश्यंत्यम हलित सियात उपदेश आद्योच्चारण सूत्रेशु पहले सूत्रेशु सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीय सर्वत्र बोलो सूत्र हलन उपद हल अंत्यम में दो पद हल और अंत्यम अंत्यम ज्ञान जैसे बनेगा ज्ञानम ज्ञान ज्ञानानी अंत्यम क्या बनेगा अंत्यम अंत्य अंत्यानी तृतीया सप्तमी चतुर्थी ठीक है नहीं सब नहीं बोलते बोलो चतुर्थी जो नहीं बोलते समझ नहीं बोलोगे हम सब कि हम बुद्धिमान नहीं बोलकर तो चल जाता है ऐसा नहीं सबको बोलना चाहिए आता है तो बोलो नहीं आता है तो सीखो सब बोलना पंचमी बोलो हाँ तृतीया हाँ अंत्य शब्द हो गया ऐसे हल भी बनेगा हल कैसे बनेगा मरुत जैसे बनेगा सप्तमी क्या बनेगा हल्का का है हल नहीं हलो हो हली आगे हलो हो हलसु हलिसु नहीं क्या बनेगा हलसु तृतीय क्या बनेगा हला हला हला हाँ तृतीया द्वितीय हलम हलम मैं जो बोलूंगा उसको बोल सब दोबारा बोल करके आगे शुरू करना आगे से नहीं हलम आगे हला हला हला आगे आगे हलिब्या कोई बोल दिया बोलो हला हला हलो विसर्ग हला हा नहीं हला बोलो हला आगे हाँ ये ऐसे सब बने हल अंत्यम अंत्यम हल इसका अर्थ क्या होगा अंत में रहने वाला यह हल है अंत में रहने वाला अंत्यम का क्या अर्थ अंत में रहने वाला अंत्य भव भवम अंत्यम अंत में होने वाले हल अंत में होने वाले अंत्य शब्द का अर्थ हो गया अंत में होने वाले हल का हल क्या मालूम है हया बरट से ह से लेकर शुरू करो हल के लकार तक जाओ सब व्यंजन बन उसमें आगे हया बरट के ह से लेकर के चलेंगे हल के लकार तक बीच में कोई व्यंजन बन है हैं सब व्यंजन में सारे है और स्वरवर्ण जो है तो केवल उच्चारण के लिए इसे हल का अर्थ होता है व्यंजन बन आगे बनेगा हल का क्या अर्थ है हाँ अंत्यम हल का अर्थ अंत में होने वाले व्यंजन वर्ण सूत्र का क्या अर्थ हुआ अंत में होने वाला व्यंजन वर्ण हल का क्या अर्थ हुआ अंत में क्या हल का अर्थ क्या हुआ व्यंजन वर्ण क्या अंत बोलते हल का अर्थ हो गया व्यंजन वर्ण हल का क्या अर्थ होगा और सरवर्ण को क्या कहेंगे अच अच का क्या अर्थ होगा सर ये आदर खन आगे बन जाएगा तो अंत में होने वाले व्यंजन वर्ण सूत्र का अर्थ हुआ वृत्ति में क्या दिया उपदेश अंत्यम हल इत उपदेश की अनुवृत्ति आ जाएगी पहले से एक सूत्र उसके पहले उपदेशे जनुनाशिक इति क्या सूत्र बोलो फिर उपदेश जनुनासिक उपदेशे जनुनाशिक बोलो हाँ उसमें उससे उपदेश आ जाएगा इत भी आ जाएगा सूत्र बन जाएगा उपदेशे अंत्यम हल इत सूत्र का क्या हो जाएगा उपदेश में उपदेश में उपदेश अवस्था में उपदेश में अंत में होने वाले व्यंजन बनना इत है इत हो इत स्यात भवत हो आदेश उपदेश करते उपदेश में अंत में होने वाले व्यंजन वर्ण को क्या कहेंगे इत एक नाम रख दिया उपदेश में अंत में होने वाले व्यंजन वर्ण का नाम क्या होगा इत इत एक संज्ञा नाम है इत क्या है संज्ञा और उसका अर्थ भी कर सकते ई की ई धातु ही गति अर्थ को एति गच्छति इति जो भाग जाते चल जाता है लोप हो जाता है ना ईद संज्ञा होते ही उसको लोप करने वाले सूत्र है कौन का सूत्र है तस्य लोप <laughs> सूत्र से बैठा है इत संज्ञा करते ही आ जाएगा तस्य लोप तो लोप हो जाएगा तो अदर्शन हो जाएगा एति गच्छति थी एति तो इत संज्ञा है नाम है एक नाम बन गया तो क्या नाम बन गया इति किसको इत कहेंगे उपदेश में होने वाले व्यंजन उपदेश किसको कहेंगे धातु सूत्र

मंगलाचरण पहले तो शुक्लाम ब्रह्म विचार अंत में इसको बोलना क्या बोलना नेतावसान है नटराजन पूर्णम तो समय बोलते हैं अंत में क्या बोलना नेता हाँ बोलो नेतावसाने इसी सूत्र में थोड़ा रह गया उपदेश अंत्यम हल इति सियाद उपदेश हो गया आद्योच्चारण आद्य उच्चारण प्रथम उच्चारण उपदेश किसका प्रथम उच्चारण है पाणिनि महर्षि का हो सूत्रकार है पाणिनि और वार्तिकार कौन है वारुचि कात्यायनी है और भाष्यकार है पतंजलि ये उनके आद्य उच्चारण कहाँ उच्चारण ये उपदेश क्या है भाई धातु सूत्र गण सूत्र है गण उणादि लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश ये सब आगे आ जाएगा उणादि क्या है आदेश क्या है धातु क्या है ये सब आ जाएगा पहले थोड़ा श्लोक याद हो जाएगा आगे सब समझ में आ जाएगा ये सब उपदेश है उसमें प्रथम उच्चारण उपदेश उपदेश के समय में ही ये इसकी ईद संज्ञा हो जाती है जैसे अ ई ऊन आ गया माहेश्वर सूत्र है ना अ ई ऊन ये जो नकार है ये व्यंजन वर्ण है क्या व्यंजन वर्ण है अ ई ऊन सूत्र है माहेश्वर सूत्र है ये उपदेश है तो उपदेश करते ही नकार की संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से हलंत्यम क्या सूत्र है नकारी की संज्ञा हो जाएगी नकारी संज्ञा होते ही आगे सूत्र आ जाएगा तस्लोक इसलिए जब अच प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण पूछेंगे क्या कहना अ ई उ री हाँ न नहीं आएगा इत संज्ञा हो ना लोप हो गया इत संज्ञा होने से खाली अनकार तो है किंतु गिनती उसकी नहीं होती है अच प्रत्याहार जब कहेंगे अ ई उ री ली ए ओ ऐसा होता है तो उपदेश आद्योच्चारणम आ उसमें आया ये व्याकरण में से बताएंगे जो सूत्र तो छोटा है हल अंत्यम दो पद है उसके वृत्ति में लिखते समय व्याख्या करते समय उपदेश अंत्यम हल इत स्यात स्यात तो क्रिया है और उपदेश अंत्यम हल इत उपदेश और इत दो पद आ गई सूत्रेशु का क्या अर्थ होगा सूत्रों में क्या विभूति है बहुवचन एक वचन क्या बनेगा सूत्रे हाँ सूत्र शब्द का रूप ऐसा हो जाएगा कैसे बनेगा सूत्रम सूत्रे सूत्राणी ष्टी सप्तमी हाँ सूत्रे सुखा तो सूत्रों में अदृष्टम पदम जो दिखता नहीं सुनाई नहीं पड़ता वो सूत्रांतराद पंचमी है सूत्रांतराद सूत्रांतराद आगे क्या रूप बनेगा सूत्रांतराभ्याम तृतीया सूत्रांतरेण क्या बोलते हो सप्तमी हाँ हाँ फिर बोलते में नृता